विचिन्न कहते कि ऐसा है जिसको ध्यान करने से अच्छा फल मिलेगा क्या लड़ाई झगड़ेगी जो लड़ाइयों की चिंतन करे उससे अच्छा फल मिलेगा क्या है और सृष्टि के प्रलय का चिंतन करने से क्या मिलेगा अच्छा फल मिलेगा विनाश का चिंतन करोगे तो कलह उत्पत्ति प्रलया नाम प्रतिपत्ति अनिष्ठता कलह उत्पत्ति प्रलय इत्यादियों की प्रति की प्रतिपत्ति जो है इनकी का ध्यान करके इनके इसी तरह से लक्ष्यार्थ प्राप्ति करने की चेष्टा करना अनिष्ट ही है उत्पत्ति श्रुति आत्मगत बुद्धि अवतारा यही नान्यर्था कल्पित युक्ता इस उत्पत्ति श्रुतियों को आत्मगत्व बुद्धि आत्म विषय में बुद्धि को अवतरित करने के लिए है इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं कल्पना करना संभव नहीं है अतो नात्युत्पत्तियाकृत इसलिए उत्पत्तियाकृत भेद को किसी भी प्रकार से आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं ये कहते हैं कि फिर ये पर ही आत्मा है और अनिष्ट शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है समस्या है कि किसके लिए शास्त्र तो कर्म कांड उपासना कांड इतना मेहनत करके विश्रुतियों ने लंबा चौड़ा बना रखा है किस लिए इन्हीं सभी को जीवात्म एकत्व का ही बोध कराना है उसी विषय में सभी बुद्धि को अवतरित करनी ये ज्ञान कांड का विचार हो तो बात खत्म समुद्री विवेक को बढ़ते सीधे सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते बात खत्म थी क्या जरूरत है ये सब अन्य का ये विचार कर रहे हैं पूर्व पक्ष कहता है यदि पर आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये कहा परमार्थ सन एक में आत्या श्रुतिभ्य असद अन्य किमर्था ये उपासना उपदिष्ठा अरे यदि आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव वाला है वही एकमात्र पारमार्थिक तत्व है ऐसा होते हुए एक वेवादित मिथ्या श्रुतियों से निश्चय जवाब कर लिया ज्ञापन ये होता है असद अन्य जो कुछ अन्य वो असद फिर तो किमर्था ये उपासना उपदिष्टा ये उपासना आदि को उपदेश किस लिए दिया गया है आत्मा हमारे श्रोत मंत्र में क्या यह आत्मा आत्मा सकृतम गुरुता आतिथ्य उपासित इत्यादि श्रुतिभ्य कर्माणी चग्नोत्री अग्निहोत्रीण अग्निहोत्रादीनी केवल उपासना ही नहीं अग्निहोत्र सैकड़ों कर्मों का विधान किया किम अर्था किस लिए है ऐसा क्या प्रयोजन बनेगा इन विभिन्न विधियों के द्वारा उपासनाओं का विधान किया और जो कर्मों का विधान जो किया उसका क्या लाभ है श्रृणु तत्व कारण उसके पीछे क्या कारण है आश्रमास्त्रिविधाहीन आर्षमास्त्रिविधाहीन मध्यमोत्कृष्ट उपासनोपदिष्टेय तदर्थम मनुकंपया आश्रमास्त्रिविदा कहते हैं तीन प्रकार का आश्रम कौन कौन है निकृष्ट कोटि वाले मध्यम कोटि वाले और उत्कृष्ट कोटि वाले इस प्रकार के दृष्टि वाले तीन प्रकार के आश्रम के अधिकारी ना क्या आश्रम का तात्पर्य अधिकारी जो श्रम करने को तैयार है तो सम्यक प्रकार पूर्ण रूप श्रम करने को जो तैयार है वो आश्रम है अधिकारी कितने प्रकार के हैं यह दृष्टि वाले अधिकारी हैं मध्यम दृष्टि वाले अधिकारी हैं उत्कृष्ट दृष्टि वाले अधिकारी हैं इस प्रकार तीन प्रकार के अधिकारी हैं उनके लिए तदर्थम अनुकंपया संबंध मध्यमारी कार्यों के ऊपर अनुकंपा करते हुए यम उपासना उपदिष्ठा ये उपासना और कर्मों का उपदेश किया गया है यदि परेवात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव एक परमार्थ इत्यादि विचार के जवाब में कहते हैं कि देखो आश्रमा मैंने आश्रम कौन है वो अधिकर्दा जो अधिकारी पुरुष होगा वर्णिन अविकास है केवल ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ इत्यादि नहीं लेना वर्णिन मार्ग का जो सनातन धर्म के वैदिक मार्ग में चलने के इच्छुक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि वर्ण से युक्त है और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वार संन्यास आश्रम से युक्त है ऐसे जो अधिकारी लोग हैं उनमें जो घटगिया किया कैसे निकाला आश्रम शब्द से प्रश्न प्रविधा कहते आश्रम शब्द को उपलक्षण समझो प्रदर्शनार्थ आश्रम शब्द वर्णी और आश्रमी अधिकारी होता वर्णी और अधिकारी होता जो आश्रमी दोनों को बोध कराने के लिए लक्षित किया जा रहा है पर अच्छा नहीं ठीक है फिर तीन प्रकार तो थे त्रिविधा कर तब कहते हैं हीन मध्यमोत्कृष्ट यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था प्रदर्शनार्थता परिश्रम त्रिविधा कथम वो तो तीन प्रकार के हैं सच त्रिविधा कथम ऐसा होना चाहिए ऐसा उल्टा कर दे प्रश्नार्थ का त्रिविधा अलग करके वहां विश्राम दे दिया उसमें वाक्य में जोड़ दिया है गलत वाक्य अर्थ नहीं बनेगा भाई ये पूछा जाए पहले तो आश्रम शब्द का अर्थ से आप वर्णी भी ले रहे हो अधिकारी भी ले रहे हो कैसे ले रहे हो तो उसके अंदर प्रश्नार्थ का तो आश्रम शब्द जो है उपलक्षणार्थ है प्रश्नार्थ ना उपलक्षणार्थ इसे कौवा को दिखाए क्यों दिखाए कौवा को दिखाने से आपका मतलब है क्या आप कवाब को दिखा रहे क्यों दिखा रहे तो कवा वाला मकान से आपको मतलब है आपको कवा से कोई लेन देन आपको मतलब है वो मकान का बोध कराना कहा कवन ग्रहम का तो नहीं कहा कवन ग्रहम कवा को काय को दिखाए इसी प्रकार अरुंधति न्याय में भी है ना पहले जाली दिखा दी शाखा उसके चंद्रमा ठीक उसका पीछे छोटा बड़ा सा रहेगा नक्षत्र उसको दिखाएंगे वजह ये आरंभ है देख लिया कहते नहीं उससे पीछे एक है देखो असली तो वो है तुमको तो वहां तक पहुंचाने के लिए ये पहले बड़ा नक्षत्र वगैरह दिखाया हमने लेकिन तो में बड़ा वाला नहीं है उससे उसके पीछे जो छोटा सा है वो है बड़ा वाला तो बस जी है उसके पीछे वाले को देखो वो अरुंधति है समझा पड़ता है ना उसी प्रकार यहाँ पर भी उपलक्षण पर आश्रम शब्द है अधिकारी मन अधिकारी और वर्णाधिकारी दोनों को ग्रहण करने से तात्पर्य है वाक्य खत्म कर दिया अब उस वाक्य में त्रिविधा का क्या अर्थ है बताओ पहले आश्रम प्रदर्शनार्थ तक त्रिविधा इस वाक्य का क्या अर्थ हो क्या तीन प्रकार के प्रश्नार्थित के साथ अनुभव करो ना मेरे को आश्रम आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थ त्रिविधा एक वाक्य बनाओगे तो क्या अर्थ बताओगे आश्रम शब्द का पूछा जा रहा है शब्द से बोल रहे ना आश्रम शब्द से त्रिविधा बोलोगे काम नहीं करोगे त्रिविधा के इस वाक्य में हाँ? हाँ? फिर तुम उल्टे वाक्यार्थ अन्वय करके मुझे बताओ त्रिविधा किसका विशेषण है विशेष क्या है वाक्य बोल रहे आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत्वा त्रिविधा क्या अंदर होगा इसे नीचे दे दो टिप्पण को अकल खुलेगी तब ऐसे नहीं समझ में आएगी प्रश्नार्थता दीदी क्या टिप्पण एक नंबर में वर्णी उपलक्षण करता क्रिया आक्षेप है ना यहाँ तात्पर्य क्या है ये टिप्पण का तात्पर्य क्या है यह आक्षेप है आश्रम शब्द से आप पहले तो कह दिया आश्रम अधिकृता अधिकारी जो आश्रम उनको लेना है फिर आगे कह दिया वर्ण मार्ग का ये आक्षेप है मार्ग का वर्णी कहा से तुमने लाया आप यह कहाँ से लाया आपने भाष्यकार ने मूल्य को है क्या मूल्य है नहीं आनगिरी टीका टीका तो नहीं को तो। शूद्रान व्यावर्त्य त्रैवर्णिका नाम एवं ग्रहणार्थम मार्ग विशेषण त्रैविध्यम में आकांक्षा दर स्फोर कथम इत्यादि ना वो अलग है उसके संबंध नहीं टीका टिप्पण को देखोगे तो पता चल जाता है वो भिन्न भिन्न वाक्य है बल्कि मतलब ये होना चाहिए था कि आश्रम शब्द से भ्रष्टार्थता क्योंकि आश्रम शब्द जो है उपलक्षण करता है आश्रम रूपी अधिकारियों को और वर्ण रूपी अधिकारियों दोनों को ये उपलक्षण करता है कौन आश्रम शब्द बाखद फिर मूल का शब्द लो त्रिविधा क्या क्या करेंगे भाषकर क्या करेंगे त्रिविधा फिर कौन अड़ा कथम तो मूल का अनुकरण है त्रिविधा त्रिविधा का अर्थ करने की जरूरत नहीं प्रसिद्ध है तीन प्रकार का है और उसे प्रश्न केवल कौन है इसलिए डालना पड़ता है मूल के अनुकरण वाले मुख्य फिर कथम प्रश्न पूछा तीन प्रकार के क्या करे हीन मध्यम उत्कृष्ट हीना मैं निकृष्टा मध्यमा उत्कृष्टा च दृष्टि ही दर्शन सामर्थ्य दृष्टि का मतलब दर्शन ये सामर्थ्य तेषाम ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्योपेता मंद मध्यम उत्तम बुद्धि के सामर्थ्य से युक्त पुरुष लोग अधिकारी लोग चाहे तत्व आश्रम में रहने वाले हो तत्त वर्ण में रहने वाले हो उपास उपासना से उपदिष्ट है ये सब का स्पष्ट आश्रम शब्द में आश्रम गृहता वर्णन तो कदम गृहरन आशंका आश्रम शब्द से का देखिए स्पष्ट जिसके आगे में टिप्पण कार कह रहे हैं इस बात को दर्शनार्थी वर्णी उपलक्षण उसके नहीं कहा आश्रम शब्द के द्वारा आश्रमियों को ग्रहण करना चाहिए वर्णियों को कैसे ग्रहण कर रहे हो तब उसके जवाब में आया आश्रम शब्द से भ्रष्टार्थ था खत्म हुआ पर वाक्य इसीलिए उस वाक्य में त्रिमता शब्द का अर्थान्वय नहीं हो सकता अवतरणी का क्या दर्द उसके आधार पर कोई संबंध नहीं बनता है त्रिवदा का इसलिए पृथक वाक्य बनाना पड़ेगा और एक कॉमा देनी पड़ेगी फिर कथम को सर्वसमन्वय हो जाता है सही सही उपासना उपदिष्टा यम तदर्थम इसी के लिए ही इन उपासना को देश के किसके लिए मंद मध्यम दृष्टिया शरणाध्यर्थम क्या उत्तम को छोड़ दिया पूर्वार्थ जो इतना ही कह रहा है तीन प्रकार के अधिकारी लोग होते हैं मंद अधिकारी मध्यमाधिकारी उत्तमाधिकारी लेकिन किनके लिए उपदेश है उपासना कर्म वो कहते हैं मंद मध्यम दृष्टिया श्रमाध्यर्थम कर्माणी च कार्यकाल में यदि केवल उपासना थी लेकिन पूर्व पक्षी ने कर्मों को भी लेकर शंका किया था इसलिए भाष्यकार उसको जोड़ दिया यहाँ पर चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए ही है अच्छा आत्मा एक निश्चिता उत्तम दृष्टि अर्थम आगे ना आत्मा एक आत्मा एक है और ऐसा जो निश्चित बुद्धि वाले उत्तम दृष्टि वाले है उनके लिए न उपासना है न तो कर्म यह भी एक विश्राम होना चाहिए न चाह आत्मा ही करे अद्वितीय निश्चित उत्तम दृष्टि अर्थम खत्म बात विश्राम दयालु न वेदन अनुकंपया सन्मार्ग का संत कथम इमाम उत्तम उत्तमाम एक दृष्टि प्राप्त क्योंकि दयालु वेद ने सोचा ये जो उत्तम है एक दृष्टि वो मंद मध्यम अधिकारी कैसे प्राप्त करेगा ये सोच करके वेद ने कर्म और उपासनाओं को उपदेश किया आप एक विश्राम के बिना सारा वाक्या गलत आ जाए कैसे उसमें जोड़ दोगे पुराण में कैसे करोगे प्रिंटिंग में सब गलतियां हैं स्वच्छ समझे बिना उसको वेचन किया नहीं चिंतन नहीं किया और सीधा प्रिंटिंग करने लोग क्या मालूम रहता है वो अनपढ़ होते बात करवा जो आपने मेटर दिया वैसे वैसे छपा देगा तो करेक्शन करने वाला पढ़ा लिखा हो और ढंग से हो सोच समझ कर करेगा नए वाले ने भी ऐसे छपाया है क्या सब है बताओ तो नकली कर दिया इसका मतलब तो उतना कथ इसलिए दयालु ना वेदेना दयालु वेद के द्वारा अनुकंपया अनुकंपा करते कृपा करते हुए समन्नार्थ का संत कथम इमाम उत्तम दृष्टि प्राप्त रीति मत्रा पूर्वान होगा उपासना उपदिष्ठा कर कर्माणी दयालु वेद ने सोचा कृपा करते हुए अरे सब मार्ग आदमी है बेचारे लेकिन ये जो है वो उत्तम जो एकत्र दृष्टि है उसको कैसे प्राप्त कर सकेंगे यह सोच करके उपासना क्रमों का उपदेश दिया है क्या प्रमाण है क्योंकि उत्तम आरती उनके लिए बताया यन मन यन मनसा न मनुत ये नहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि निधम आत्म सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य टीकाकार भी कह रहे हैं देखो प्राप्त उपासना उपरिष्टा कर्माणी चीज पूर्वेण संबंध है ना स्पष्ट करा ना यहाँ पर अब वो यदि एक वाक्य बना दे सारा अर्थ बिगड़ जाएगा तो इसीलिए सोचना चाहिए वेदेन उपासना उपदेश मंदाना मध्यमान कथम अनुग्रह विधि इत्याशंका है देखो अलग है वो अवतरणिका को देखिए आनंद कार के भैया कर रहे हैं इस चीज को व्यावर्त्यांशन दर्शे थे नशे इत्यादि वो अलग कर दिया और फिर देवन वेद अनुगम करके प्रवर्तन का अलग दे वेदे यह अशुद्ध है वेदेन होनी चाहिए टीका में देखो वेदेन उपासना उपदेश मंदाराम मध्यमान कथम अनुग्रह आशंकाया आशंका सन्मार्ग नीचे से तीसरी पंक्ति में अशुद्धि अवतरणी का आनंद गिरी टीका बोल रहा हूं नहीं दिखाई दिया वे देना ठीक है वो भी हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा इनसे टीकाओं दूसरे टीकाओं को देखना पड़ता है तभी मूल कई बार अशुद्ध प्रिंट भी हो ना टीका टिप्पणी से पकड़ में आ जाती कहा क्या गलती हो रहा है तो कहते उपास्य ही वास्तविकता नहीं है इसलिए मन मध्यम को क्यों लिया आपने और उत्तमों का व्यावर्तन क्यों किया उसके लिए इस श्लोक इन मंत्रों को दिया है उपास्य ब्रह्म ब्रह्मणोदी उपास्य जो ब्रह्म उपास्य है वो ब्रह्म नहीं है प्रतिषेधार्थ मंद मध्यम दृष्टि विषय उपासना से प्रतिभा इसे स्पष्ट व्यापन होता है मंद मध्यम दृष्टि वालों के लिए ही उपासना ही थी इसलिए कहा नहीं यदिदम उपासना यह नहीं है जिसको तुम उपासना करते हो ब्रह्म नहीं इसका मतलब जो उपासना कर रहा है वो ब्रह्म को नहीं जान रहा अर्थात मंद और मध्यम अधिकार अर्थ कहीं तो इसमें लक्षित हो गया है मंदम मध्यम अधिकारी उपासनाओं को करके उपास्य को भेद दृष्टि से ग्रहण करता है और अधिकारी जो होता है उपास्य को भेद दृष्टि से ग्रहण न करते हुए जीव तत्व को ग्रहण करने वाला इसलिए तीन आश्रम तीन में से मंदन मध्यम को उपासना क्रमाधिकारी मानना और उत्तम को ज्ञान के अधिकारी मानना उचित सिद्ध होगा और अध्यय दृष्टि नाम तो वर्णाश्रम भेजाभिमान अभावादेव नौपासन कर्म वासमित्या तत्तमसी उसके अतरण क्या दे रहे हैं कभी अद्वैत दृष्टि वालों के अंदर वर्ण भेद भी नहीं आश्रम भेद भी नहीं रहेगा तो तो वर्णातीत हो गया आश्रमाधीन हो गया इसलिए सब जितने भी सब ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है ना वर्ण व्यवस्था है ना आश्रम व्यवस्था रह गया कलयुग में है नहीं ज्यादा दर्शन संग्रह पुस्तक लिखे काशी का नंदी बल्कि भूमिका में आप देखोगे ना स्पष्ट लिखते हैं वो इस वर्तमान युग में जो है के शूद्र के सिवा और कुछ नहीं है कर दिया वर्ण संकर भी अच्छा कोटि वाला शूद्र भी नहीं शुद्ध शूद्र भी नहीं है वर्ण संकर शूद्र है और पंचवर्ण निषाद निषिद्ध जो वर्ण है वर्ण वर्ण वर्ण संकर संकर संकर जिसको मनुस्मृति करने का ना संकर संकर एक तो वर्ण संकर ये भी अच्छे हैं शूद्र से घटिया भले वर्ण शंकर और वर्ण शंकर भी लेकिन श्रेष्ठ है लेकिन शंकर शंकर को सबसे घटिया वो भरा पड़ा इस कलयुग में क्योंकि वर्ण हम मन नहीं, कर कर रहे वर्ण शंकर इसको कहते हैं एक उच्च वर्ण वाला नीचे वर्ण वाला के साथ संबंध करके संतान पैदा हुआ या तो वर्ण शंकर हो गई फिर एक उच्च वर्ण वाला उस वर्ण शंकर संबंध करता है वो भी वर्ण शंकर ही कहा जाएगा नहीं दो वर्ण संकर आपस में संबंध कर लिया शादी कर लिया वो संकर संकर हो गया वो और गति होते जा रहा है ना बीज तो खराब होते गया खेती भी खराब होते जा रहा है घटिया क्वालिटी का होते यूरिया डालनी पड़ेगी बढ़िया कभी तो फसल निकलेगा वहां ढंग का और इतना ही नहीं वर्णों के बारे में ऐसे कहा और ऊपर से ये भी लिखते हैं आगे आश्रमों में जो है दो ही आश्रम है एक तो गृहस्थ है एक तो ग्रस्त आश्रम और दूसरा संन्यास आश्रम दो ही आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है नहीं कहते क्योंकि आजकल बाल्य अवस्था से ही टीवी देख करके सब लोग ब्रह्मचारी को खराब खत्म मानस लोग कर चुके सब दृष्टि भोग हो चुका है कहा ब्रह्मचारी मिलेगा बोलते हैं वो बड़ा कठोर लिखे हैं सच्चाई को छत तक लिख रहे हो कहते एक तो ब्रह्मचारी है न ग्रस्त है या तो संन्यास है ज्ञान कैसे मिलेगा ही नहीं गृहस्थाश्रम में भोग प्रदान साउथ गृहस्थाश्रम नहीं मिलेगा लेकिन शादी कर रहे बच्चा पैदा कर रहे इतने से गृहस्थाश्रम से मतलब है हम तो दान पुण्य कर रहे हैं कुछ पूजा पाठ समाप्त कर्म तो कर ही रहे मेरे सौत कर्माधिकारी है ही नहीं क्योंकि बाल कुछ सफेद होने के बाद ही शादी हो रहे और जात पुत्र किसी के शिकार ही लेगा सफेद बाल हो गया तो उसको तो अग्निहोत्र कर नहीं सकता नियम है शादी करने के बाद पुत्र को जब पैदा हो जाए और कहीं चार लाइन में पहले पांच छह लड़कियां हो जाए तब दौड़ हाल खराब पुत्र पैदा जब हो तब तो काला बाल होनी चाहिए सब एक भी बाल सफेद ना हो वो तो समझता नहीं अग्निहोत्र का अधिकारी होता है श्रोत कर्माधिकारी होता है पैसा आज मिलेगा कहा इसलिए अधम गृहस्थ वर्तमान में भी कहना चाहिए जोड़ना पड़ेगा शब्द अधम गृहस्थ ब्रह्मचारी उसके बाद कोई जरूरी नहीं है सन्यास का तात्पर्य क्या है सर्व कर्म त्याग कर दिया ये पहले से सब मानस भोग कर चुके हैं हाँ। बाद में सन्यासी कोई बात नहीं है उसे क्या दिक्कत हो रहा है आप सन्यासी है ये जो लिखा जाता है सन्यास मतलब क्या जन्म से ब्रह्मचारी का नाम ही सन्यासी होता है ये कहानी का ग्रह वनात्मा का है भोग के बाद भी संन्यास का निधान किया तो फिर क्या दिक्कत थे आज के ब्रह्मचारी सन्यासी होते तो कोई गलत नहीं भोगी भी सन्यासी होता ही था पहले ही आश्रम में ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा कहा कि नहीं कहा इसका मतलब नियम क्या है आप अखंड ब्रह्मचारी होकर सन्यास होना चाहे वो भी है कोई आपत्ति नहीं लेकिन ये नियम नहीं है जो अखंड ब्रह्मचारी है वही सन्यासी हो सकता है ये का नियम बना ये नियम होता फिर तो होना तो कल खत्म हो गया श्रद्धि गलत हो जाएगी फिर उसने स्त्री में कर दी गलती निभाया है वाहन तो रहा उसने स्त्री साथ में रही है मैंने सम्मान किया नहीं किया तो भगवान जाने वाहन पुत्र से सम्मान नहीं करना चाहिए और नहीं करते अगर हम मान लो तो भी तो स्त्री तो है सारा है सारा काम जाम है वास्तविक संन्यास क्या है कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग ये वास्तविक संन्यास है ये तो बार बार आप भागवत भी देख रहे हैं गीता में सुन रहे परिषदों में सुन रहे हैं सन्यास यही चोला पहनने सन्यास हो गए और तो सन्यासी है ही नहीं चोला पहनने से क्या सन्यासी होता कोई लोग देखो पहना देंगे बढ़िया से फर्स्ट क्लास बढ़िया खरीद के लाऊंगा पांच सौ रुपया मीटर वाला खरीदेंगे तो मिल जाए गेरवा रंग की बढ़िया अब उसे पहना दूंगा तो हो जाएगा बढ़िया सन्यासी वो थोड़ी होता है वस्त्र पहन से कोई सन्यासी जिसके अंदर कर्तृत्व वक्तृत्व है वो सन्यासी है ही नहीं चाहे जो भी वस्त्र पहन ले जितना विद्वान होगा और नहीं नहीं वो तो है ही नहीं संन्यास है ही नहीं वहाँ ग्रस्त आश्रम में अधम इसलिए कहना पड़ता है कि गृहस्थी का एक विधान तो कर ही रहा है वो ठीक है स्रोत कर्माधिकारी नहीं बन रहा है प्रजा उत्पत्ति करना भी गृहस्थी का धर्म उपाय कर रहा है स्मार्ट कर्म तो कर ही रहा है भाई देरी से विवाह किया इस वजह से वो अग्निहोत्र शोध कर्माधिकारी न हो तो भी अन्य कर्म तो कर रहा है अन्य जो गृहस्थ के लिए कर्म है प्रजा उत्पत्ति करना उसके लिए कर्म है वो कर्मी कर ही रहे कौन नहीं पैदा कर रहा है सब ग्रस्त पैदा कर रहे हैं आज ये बात बताओ कौन जैसे ग्रस्त जो दान पुण्य नहीं कर रहा स्मार कर्म दूसरी कर रहे पूर्त और दत्त कर रहे हैं इष्ट कर्म इष्ट पूर्त दत्त तीन प्रकार कर्म है वो तो इष्ट कर्म अधिकारी नहीं है छोड़ो पूर्त और दत्त सभी कर रहे हैं चाहे विदेशी को भी देखो अमलेच छोड़ वो भी कहीं ना कहीं दान कर रहा है चाहे चर्च को दे रहा है चाहे अपने मस्जिद को दे रहा है चाहे कहीं भी दे रहा है दे तो रहे हैं सभी और कोई भी स्मार कर्म नहीं कर रहा तो दान रूपी कर्म तो सब कर रहे ऐसा कोई तो इंसान पैदा आज तक धरती पे नहीं हुआ जो दान एक कौड़ी कभी करता ही ना हो कर रहा है अनेक प्रकार से कर अब कई बार सोचता हूं मैं कि ये जो नाई है ना आप सोच रहे हम गए बड़ा आपने वहां दान किया है डबल दान किया बल्कि ये तो उसका मेहनत का जो मांगा हुआ उसका चार गुणा मांगते हो आप चुपचाप दिया ना बढ़ता नहीं तो आधा काट के छोड़ देगा दिक्कत कर देगा <laughs> कभी ना कभी बदला जाओ तो, तो इसीलिए जो है उसको तो आप जितना मांगते बीस रुपए बीस रुपए चुप दे दिया आपने उसे वास्तव उसकी मैंने दस रुपये दस रुपये का अधिक दान आपने दिया और दूसरा अपने बालों को जो दान दिया है ये क्या है क्या साथ में आप गेहूं पिसरा देते हो को पैसा दिया और आटा में छोड़ देते हो क्या नहीं उसको लेके जरूर आपके यानी यहाँ कोई बाल लेके नहीं आता हाँ अरे यही तो मकमाल है यही हम नहीं जानते उससे पैसे कमाते हैं उसको बेचते हैं इसकी जो ठेका रहती तिरुपति बालाजी में देखो तो पता चलेगा कुंटल का कुंटल बाहर जाता है उस विदेशों में और उसे बहुत कुछ काम होता है उसका खरीदते हैं लोग ठेके लगते हैं पिछले साल तो बताया तीस लाख रुपए के बालों से कमाया भगवान ने तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को तीस लाख रुपए मिला अब कह रहे कोई प्रयोजन नहीं होगी डबल काम किया कि नहीं दान तो कर रहे कि नहीं कर रहे इस तरह से मैंने आप जानकर अनजान कर हर व्यक्ति स्मार्ट काम तो कर ही रहा है इसे कोई संशय पुण्य कर्म तो सभी कर रहे गृहस्थ को जो करनी चाहिए तो कर ही रहा है इसलिए उनकी युक्ति हमें सही लगा बात चिंतन में काफी किया इस अक्य सागर पर लिखा है उन्होंने आधार क्या मैंने सामान्य कथन कर रहे हैं अपवाद सभी जगह ये ना सोचिए कि इसमें अखंड ब्रह्मचारी होता ही नहीं वानप्रस्थ है ही नहीं ऐसी बात नहीं आज भी है एक सामान्य रूप में पहले की जो दृष्टिकोण से 19 बीस का फर्क नहीं रह गया दो बीस का फर्क हो गया है समझ रहे हैं ना बात अपवाद तो सर्वत्र ये कभी सोचे उनका ऐसे करना चाह रहे हम सब तो, तो, तो कुछ नहीं है गलत है उनका बोलना या तो या अपने आप में हीन भावना लाते हो या तो लोग गलत साबित करोगे दोनों ही ठीक नहीं है ये अपने आप का अपवाद में गिन बात खत्म हो गई ये नहीं सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने आप को मानते हैं मगन धर्मचारी फिर अपमान में गिन लो शांति हो जाएगी मन की तो ने यहाँ पर कह रहे देखो तत्म सिद्धु का वर्णाश्रम मेरा भी मान अभाव उत्तम अधिकारी कौन है जो वर्ण भेद आश्रम भेद का अभिमान को त्याग दिया है वही अधिकारी है वही सन्यासी है वही अद्वेद को समझ सकता है इत्यादि श्रुतियों को तत्व से इत्यादि श्रुतियों की तरह बात स्पष्ट किया गया है ठीक है आपने अपना अद्वैत दर्शन तो बड़ा साबित किया अच्छी तरह से लेकिन इस अद्वैत दर्शन को हम यथार्थ नहीं मान सकते क्योंकि उपासना और क्रम विधियों के साथ इसका विरोध है क्योंकि उपासना और कर्म विधि द्वैत की अपेक्षा करता है और आपका अद्वैत जो है द्वैत का विरोध कर रहा है इसलिए उपासना विधि कर्म विधि ज्ञान प्रकरण के साथ परस्पर विरोध करता है कि ज्ञान प्रकरण का विषय अद्वैत है उपास और काम का विषय द्वैत है यह परस्पर विरुद्ध है अतएव हम आपके दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकते तब सिद्धांत जवाब देता है स्व सिद्धांत व्यवस्था द्वैतिनो निशिता दृढ़ परस्परम विरुद्ध तैरयम न विरुद्ध द्वैत तई द्वैत भी न विरुद्ध कोई विरोध नहीं पाता है कि ये जितने भी द्वैती है सब मेरी में ही कल्पित अद्वैत में कल्पित तो विरोध कहा रहेगा ये चित्र का अपने अधिष्ठान में अद्वैत रूपा पट के साथ विरोध हो जाए फिर वह चित्र उस पट पर रह नहीं सकेगा रहेगा क्या इसलिए मानना पड़ेगा जितने भी चित्र है वैसे तो है पट का विरोधी पटता बेचारा सफेद गोरा सुंदर रहा प्यारा और उसे काला पीला नीला हरा कुछ कुछ हो गया तो बिगाड़ दिया ना बिगाड़ा नहीं एक बार एक विशेष ऐसे ही है बढ़िया कपड़ा लाया फटका धोती और गला ससुर हम सबको बांट दिया भंडारे में उसके बाद वही थे सेठ जी ऊपर में कमरा है ना उसी में रहते थे वही कुआ के सामने बना हुआ रंगने वाली और हम लोग सब लग गए उसके पीछे रंगने में और सेठ जी देखा आपने कमरा जी क्या हो रहा है इतने बढ़िया कपड़ा दिया अच्छा मिट्टी रंग लगा करके खराब कर तो आया पहले लोग हमसे महाराज ये क्या कर रहे हो चंदन तो गिरवा रंग कर रहे ये तो मिट्टी घिस रहे हो अरे घिस घिस कर घिस लगा दोगे इतने बढ़िया कपड़े का तनाश हो जाएगा तो ने कहा तुमने दान दे सोचा तो जा क्या मतलब दान का मतलब क्या तुम्हारा कहने मेरे जाने फाड़ दो इसको आग लगा कर क्या मतलब तुम जाओ चुपचाप तो बोले बात भी ठीक है चुपचाप चला गया लेकिन उसको दिल में ऐसा लगे ना ये देखकर एक मेरा खराब करते हैं उसी प्रकार तत्व की तरह साफ उसने दुनिया और चित्र बना डाला और पट की तो सत्ता खत्म हो गई बेचारे की हाथ खराब कर दिया लेखता तो है पट का विरोध पट यदि अब उस पट को मन दे दिया जाए और तो पट जरूर कहेगा मेरे मेरे क्या तुमने बना दिया भाई क्या चित्र बनाया और क्या खेच दी लेकिन कहते हैं कि अद्वैत में ऐसी संभावना ही नहीं है क्योंकि वह सब उसके अपने आप में कल्पित मानता है अतः उसके साथ कोई विरोध नहीं हो सकता बल्कि वो आपस में उल्टा लड़ करते रहते स्व सिद्धांत व्यवस्था सो अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था में आरूढ़ होकर दुराग्रही होकर के कट्टरता के कारण से द्वैतना निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुद्ध अपने अपने सिद्धांत में दृढ़ निश्चय वाले जो द्वैती होते हैं वे परस्पर लड़ाई लड़ते रहते हैं नहीं एक मीमांसक का विरोध करेगा मीमांसक जो है सांघी का विरोध करेगा ये आपस में लड़ते रहेंगे क्यों वो जगत को भी सत्य मान रहे अपने सिद्धांत को सत्य मान रहे सत्य सत्य मान के बैठे हुए इसलिए अनेक सत्य तो हो ही सकते तो आपस में लड़ाई जरूर होगा और हम इनमें से किसी को सत्य मानते तो लड़ाई खत्म हो गई कल्पित उसमें क्या लड़ाई होगा कल्पित का सत्य उससे कोई लड़ाई नहीं हो सकता कोई विरोध नहीं हो सकता इसलिए बोलो अपनी अपनी सारी चीजों का अनेकों चीज सत्य जब हो जाए तो अनेक सत्य होंगे तो आपस लड़ जाएंगे अनेक सत्य हो जाए तब में लड़ाई होगा बिल्कुल लड़ाई होगा कोई लड़ाई नहीं होता जब अनेक विद्या महात्मा इकट्ठा हो और सब अपने आप को परापर मानने लग जाए तब समस्या खड़ी हो जाएगी तो मेरा में ऐसे ही हुआ बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य जितने भी थे सबको बतौरा गया एक आचार्य संगम नाम का चीज बनाने की समस्त संप्रदाय के आचार्य उनको बुलाया गया अब विचार हुआ कि भाई कौन इसका अध्यक्ष होगा कौन बनेगा आचार्य अध्यक्ष कौन पद को बैठे अब जो शंकराचार्य लोग थे चार में से तीन थे और तीन एक दूसरे की चेहरा देख रहे हैं हमें से कोई बन जाए तो रामानुजाचार्य जी बैठे रामानंदाचार्य जी वो भी राम बैठे थे आचार्य जानते सुने बड़े नहीं आए भट्ट विद्वान है भयंकर खोपड़ी है उनके सामने कौन ठीक है और वो भी बैठे कई आचार्य को निम्बार का आचार्य को पकड़ के लाया था कईयों को इकट्ठा किया था लोकेशान जी के बड़ी विचार थी और हम लोग मिलकर बड़ा मेहनत किया उसमें काफी प्रयास करने पर सब इकट्ठा होकर आए और सब जमीन पर एक सामान सब बराबर गद्दी नया जो है पच्चीस यूफॉर्म गद्दी खरीदा गया ऊंचा नीचा हो जाए एक कार्टन गद्दी तो ऊपर नीचे हो जाती है ना मोटा रहेगा कहीं दबा रहेगा तब दिक्कत हो जाए कहेंगे हमको गद्दी ऐसे दे दिया तो इसलिए सबको बराबर दिया गया सबको बिठाया गया बड़ा तीन तक विचार विमर्श होने के बाद यहाँ आके लटक गया कौन अध्यक्ष बनेगा ठीक है बनना चाहिए होना चाहिए हम सब एक आवाज दे तो जैसे हमने दृष्टान दिया भूमिका बांधा मैंने एक घंटा भाषणबाजी करी भूमिका में हमने कहा आज जो है एक इमाम बोल देता है बुखारी सारा देश के मुसलमान मानते हैं एक आठ विशद इटली से बोलते हैं रोम से सारी दुनिया भर के ईसाई मानते हैं ऐसा कौन सा संत जिसके जबान खोलते हैं सारा विश्व का हिंदू मान लेता है क्यों ऐसे है आप लोगों के अंदर आपकी कमी है कि आप जो है ना गली के पच्चीस कुत्तों के हिसाब से लड़ जाते हो कोई भी बात नहीं खुला खुला तो सारी बात फिर बड़ा विचार विमर्श हुआ कहीं ना कहीं शब्दावली थोड़ा गलत उसने प्रयोग किया नहीं कोई बात नहीं माफी मांगते शब्दावली बोल तो ही दिया है बोलने के बाद माफी मांग लगी क्या दिक्कत है ठीक है कोई शब्दावली हमारे तरफ से बुरा लगा हो किसी भी संत को इसके लिए माफी मांगते छोटे बच्चे हैं हम तो आप लोग बड़े बड़े आचार्य लोग हैं तो फिर सारे विचार विमर्श होने के बाद बात बराबर थे ना सर तीसरे हुई वो अध्यक्ष हो जाए तो कोई उपाध्यक्ष बन जाएगा तो छोटा हो जाएगा ना पद से नहीं बनेंगे हमने कहा पारी पारी से करते हैं मैंने कहा एक एक साल मैंने वहां संप्रदाय वाले बैठे थे विशेष जी पूजा और मठ के मैंने कहा जैसे उड़पी में होता है दो दो साल एक बार महंत होते हैं मठ का कोई एक महंत होता नहीं हर दो साल में नए नए आ जाते हैं अभी इधर हम हर साल कर लेते जो पांच मुख्य संप्रदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं पांच संप्रदाय के पांच आचार्य हैं प्रमुख इन पांचों आचार्यों को हम एक एक साल एक अध्यक्ष माने बस यहाँ पर समस्या खड़ी हुई दूसरी इधर कल वैसे हाँ कर दिया उन्होंने कहते ये होगा एक के अध्यक्षता में जो निर्णय हुआ तो क्या अगला अध्यक्ष उसको मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए उसे लागू करेगा कि नहीं करेगा इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा वो जरूरी है क्या और अपने अहंकार लेके बोलेगा नहीं उन्होंने जो किया सो किया ठीक है उस जमाने में हो गया लेकिन हमारे जमाने में ये होगा गड़बड़ हो गया फिर ऐसे कैसे काम चलेगा मैंने कई बार समझाने की कोशिश किया लोकेशन जी ने बहुत प्रयास किया हाथ जोड़ते रहे लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हुआ फिर एक इधर से उठ के भागा उधर उठ के भागा सब भाग ये समस्या होती यदि सभी बराबर हो हमने वही दृष्टा समझ में आती है कार्यक्रम प्रैक्टिकल है वेदांत जो है ना आप ये समझते हैं तो ग्रंथ की चीज प्रैक्टिकल जीवन की चीज है वेदांत तो प्रैक्टिकल लाइफ है ये बात प्रश्न है जो अपने अपने में सत्यता में आरूढ़ हो जाए तो अनेक सत्य जब हो जाएंगे तो आपस में लड़ने के सिवा कुछ नहीं होने वाला है एक सत्य मानोगा कि इधर मिथ्या मान ले तब उसे सत्य के अधीन सारे मिथ्या व्यवहार चलते रहे कोई दिक्कत नहीं और एक को हम मान के चलते थे तो कोई समस्या नहीं था अनेक थे ना बराबर वाले कोई गड़बड़ हो गए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व सिद्धांत की अवस्था में जो दृढ़ निश्चय वाले जो द्वितीय ना वो भले परस्पर विरोध कर लेते हैं लेकिन तई रयम में विरुद्ध है इस अद्वैत का द्वैतियों के साथ कोई विरोध नहीं होता इस पर विचार स्व सिद्धांत व्यवस्था सो द्वैतिद निश्चिता दृढ़ परस्परम विरुद्ध तैरयम न विरुद्ध इस पर विचार करते भाष्यकार शास्त्र अवधार अवधारतत्वात् अद्वैत दर्शनम सम्यक दर्शनम तद बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम मन कहते शास्त्र आगम उपनिषद के आधार पर और उपपत्ति युक्ति के आधार पर यह निर्णय हमने कर लिया निश्चय कर दिया अवधारित कर दिया गया है क्या जो यह अद्वैत आत्मदर्शन है यही सम्यक दर्शन है तद और इसके विरुद्ध तदबाह्य होने के नाते अर्थ आगम विरुद्ध भी है वो शास्त्र विरुद्ध भी है युक्ति विरुद्ध भी है जो ऐसे सारे चीजों को कहते हैं वो मिथ्या दर्शन है तदबाह्यवाद अन्य सर्वम मिथ्या दर्शनम मैंने आगम बाह्य भी है उपत्ति बाह्य भी युक्ति से भी सिद्ध नहीं कर सकते वो और शास्त्र प्रमाण तो है नहीं उनके पास इसलिए अन्य जितने भी दर्शन है सब मिथ्या है इतश्च मिथ्या दर्शन द्वितीना इसलिए भी द्वितियों के दर्शन को मिथ्या दर्शन हम कहते हैं क्योंकि राग द्वेशादि दोषास्पद राग द्वेशादि दोषास्पद सम्यक दर्शन से तात्पर्य निरवधि दर्शन किसी भी प्रकार से दोष रहित तो दर्शन है और यह मिथ्या दर्शन का मतलब हो गया मिथ्यार्थ विषय है मिथ्याभूत तत्वों को विषय करने वाली वो दर्शन है राग द्वेशादि दोषास्पद अन्यथा विरोध न संभव होती नहीं तो परस्पर विरोध कैसे होगा ये राग द्वेश न हो तो परस्पर कोई विरोध नहीं होता जहां राग द्वेष है वहां परस्पर विरोध राग द्वेष का जड़ है किसका विरोध का किसी के प्रति आपका प्रेम बन गया किसी के प्रति द्वेष बन गया है इसलिए आपको किसी के प्रति विरोध हो गया किसी के प्रति आप आसक्त हो जाए ये संसार का नियम है और ये सब कहा होता है द्वैत अरे और ये वास्तविक नहीं है क्योंकि जहां राग द्वेष है जहां परस्पर विरोध है वहां पूर्ण शांति और आनंद अनुभूति नहीं हो सकती एक ने बहुत जोर दिया दो चार दिन पहले आए थे दिल्ली से एक भगत बहुत ही कर्म में निष्ठा रखते हैं और करें गलत नहीं है करनी ही चाहिए कर्म शास्त्रीय कर्म नहीं दुनियादारी में बहुत लगे रहते दिन रात लगे रहते क्या है मुझे कर्म से सुख मिलता है बार बार करके हमको कर्म करने में सुख मिलता है कर्म से ही वास्तविक मोक्ष होता है कर्म की बिना मोक्ष होगा नहीं लौकिक अलौकिक शास्त्र क्रम करने पड़े तो हमने कहा आप सोते कि नहीं सोते यहाँ सोता हूँ कितने घंटे सोते हो कभी चार घंटे कभी छह घंटे चार से छह का बीच में सोता ही उन्होंने कहा फिर आपको मोक्ष मिलेगा नहीं कहीं कहा है कि आपको मोक्ष मिल नहीं सकता क्योंकि आपके सिद्धांत है निरंतर कर्म करने से मोक्ष मिलेगा अब तो कर्म में उदाहरण कर दी छह घंटे सो गए चार घंटा सोचे एक घंटा में सोया आपने कर्म में अवधान कहा डाला कि नहीं डाला कर्म में भी अवधान हो गया अव्य विचारी निरंतर धारा कर्म का हो नहीं सकता है इसलिए तुमको तो कर्म से मोक्ष मिलेगा तुम्हारे सिद्धांत अनुसार है ना तुम सदा ही संसारी बने रहोगे अच्छा दूसरी बात यदि कर्म में ही वास्तविक सुख था शांति थी तुमको सोने की जरूरत क्या पड़ा सुख तुम अनुभव क्या करते हो दुख का अनुभव करते हो अशांति का अनुभव करते हो क्या ये कर्म में सुख है कर्म में शांति है बहिर्मुखता में सुख है बहिर्मुखता में शांति है फिर अंतर्मुख के सोते क्यों हो तुम इसलिए अंतर्मुख जो सोएगा उसको अंदर से दुख होना चाहिए दुखी दुख अनुभव होना चाहिए अशांति होनी चाहिए लेकिन अब बताओ तुम्हें क्या अनुभव होता है तो नहीं हमको तो बड़ा सुख शांति मिलता है इसलिए बाहि जो कर्म करते करते तुम थक गए वहां तुम्हें तो वास्तव सुख नहीं मिलता वास्तव शांति नहीं मिलती तब तुम अंदर चले जाते हो और अंदर जो सुख शांति मिला उसके बाद फिर तुम बहिर्मुख के काम कर रहे हो कर्मानुसार इसमें वास्तविक शांति वास्तविक जो सुख है वो तो किसमें है अकर्म में है कि कर्म में अकर्म में मानना पड़ेगा ना अकर्म में ही वास्तविक सुख है अकर्म में ही वास्तविक शांति है और कर्म में भी अकर्म है कर्मण्य कर्म यह प्रश्न गीता जी में कहा है उसका तात्पर्य जिस शरीर जिस आत्मा में तुम कर्म का आरोप कर रहे हो मैं करता हूँ करके उस आत्मा वास्तव में कर्म है ही नहीं उसने उल्टा दे कर्म में जो अकर्म को देखता है कर्म करते हुए अपने आप को अकर्मी मानता है मैंने वहां उसका अर्थ नहीं है और कर्म मैंने आत्मा जो अज्ञानी लोग मैं अमुक कर्म वाला हूँ मैं पुण्य कर्मा हूँ करके पुण्य कर्म वाला अपने आत्मा को मान रहा है उसको कहा कि जिसको तुम कर्म वाला मान रहे हो उस आत्मा में अकर्मत्व का अनुभव करो और जिसको तुम अकर्म मान रहे हो शरीर आदि कर नहीं रहा है मैं कर रहा हूँ मैं शरीर से द्वारा कराता हूँ सब कुछ करता रहता मैं हूँ ऐसे कर्म को आत्मा में और शरीर को शरीर में अकर्म तुमने जो आरोप जा किया था उसके लिए निच कर्म यह अज्ञानी जो शरीर में अकर्म मान रहा है और आत्मा में कर्म मान रहा है उसको विपरीत करने कहा आत्मा में अकर्म को देखो शरीर में कर्म को देखो गीता जी में शायद आज ही आएगा प्रकृतिया ये सर्वम प्रकृति ही सब कुछ करती है यही निश्चय वास्तविक निश्चय है आता कुछ नहीं आता में कर्तृत्व नहीं भोक्तृत्व नहीं कर्म नहीं कुछ नहीं प्रयत्न नहीं कोई चीज नहीं संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं जो कुछ भी है वो प्रकृति में ये जो निश्चय करके प्रकृति से कुछ हो रहा है हम क्यों विरोध करें किसी भैया तो हमारा विरोध किसी के साथ तब होगा जब हमसे वो अलग हो और द्वितीय में विरोध इसलिए हो जाता है किन्तु उससे अलग हो अपने को मान रहा ना इसलिए कहते हैं द्वैती नाम तो राग द्वेशादि दोष द्वैतियों के अंदर क्या है राग द्वेशादि अनेक दोष से युक्त है वो अच्छा, कथन क्यों ऐसे उनके अंदर आ गया राग द्वेशादि कारण यह है यहाँ देखो ना कौम आया कौम कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता कहा रुकनी है आपको तो यही आप गोरी पन्नी करती है है ना कौम होना चाहिए ना तो क्वेश्चन का चिन्ह वहां कौमा डालो फिर कथम प्रश्न चिन्ह हो फिर जवाब है कुछ भी यहाँ पर ऐसे नहीं छापते स्व सिद्धांत व्यवस्था सो जवाब में क्या है क्योंकि वह स्व सिद्धांत व्यवस्था सुदृढ़ निश्चिता यथा तस्माद राग मत कभी कपिल कर्णाद बुद्ध अर्त आय दृष्टि निस्सारण रो निश्चिता क्योंकि जो है स्व सिद्धांत रचना नियमेशु अपने अपने सिद्धांत में रचे गए नियमों में उनकी दृढ़ जो है आसक्ति हो रखी है एक दूसरे ने अपने सिद्धांत में कोई और नियम रचना कर दिया तो उसका विरोध करने लग जाता है सब द्वैती है जितने भी है सब के सब द्वैती है चाहे कणाद हो चाहे कपिल हो चाहे बुद्ध हो चाहे अर्थ मन जैन कोई भी हो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो सब मिथ्या दर्शन वाले सब द्वैती है सब अपने अपने सिद्धांत के में रचित नियमों में मैं इतने पदार्थ को मान गोरे को सोलह मानता हूँ गोरे को सात मानता हूँ और सात मानने वाले को सोलह वाला खंडन करेगा सोलह मानने वाले को सात वाला खंडन करेगा वो आपस में लड़ते रहेंगे द्वैती निश्चिता हाँ, दृढ़ निश्चिता एवमेव ऐसे परमार्थ नान्यता अनुरक्ता वही दृढ़ता की व्याख्या कर रहे हैं क्या करो दृढ़ क्या कहीं दिया ही नहीं शब्द गायब कर दिया है होना चाहिए दृढ़म कथम था किस प्रकार से निश्चय किया तात्कालिक निश्चय किया कच्चा निश्चय है तो कोई बात नहीं दृढ़